सफर आरजे सनी के साथ आगे भी हर रोज आप सुनेंगे कुछ खास गाने आज जाने जिद ना की ना करो फिफ्टीज एंड सिक्सटीज के ओल्ड मेलोडीज जो आपके दिल व दिमाग को ताजगी देगा सफर आरजे सनी के साथ रेडियो पुनेरी आवाज 107.8 एफएम पर नमस्कार आप सुन रहे रेडियो पुनेरी आवाज 107.8 एफएम पर खाबों का सफर भाई बहनों आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है और मैं हूं आपका हम सफर सनी हमारे साथ आज के शो को एपिसोड को सजाने के लिए विभा जी भी आई हैं तो विभा जी के लिए स्वागत में ये चंद तालिया thank you Soni thank you so much आपको और हमारे बहुत ही प्यारे से लिसनर्स को हमारा प्यार भरा नमस्कार <laughs> जी जी जी बहुत ही प्यारा सा जो आवाज़ है आपका हमारे सभी श्रोताओं को श्रोताओं को बहुत अच्छा लगता है और आप प्यार से जब गाने सुनाते हैं तो और अच्छा लगता है तो पहला गाना आप हमारे श्रोताओं को कौन सा सुनाना चाहेंगे आज पहला गाना मैं लेके आई हूँ मुझे गले से लगा लो बहुत उदास हूँ ये थोड़ा भरा गाना है जी जी दुन, इसमें दुनिया के सितमों और शिकायतों को बहुत खूबसूरती से बोलों में डाला गया है हम्म, हम्म, हम्म। इस इसमें अकेलेपन का जिक्र है और एक कंधे की फरियाद है इसमें हम्म, हम्म, हम्म, कंधा मीन की उस कंधे पे सिर रख के रोने के लिए वो नंदा कह रही है मुझे गले से लगा लो बहुत उदास हूँ अपनी महबूबा को दिलासा दिलाते हुए कह रहे हैं सितम के हाथ की तार टूट जाएगी ये ऊंच नीच की दीवार टूट जाएगी तुझे कसम है मेरी उदास ना हो बहुत सही गमे दुनिया उदास ना हो जी हाँ बहुत ही प्यारा सा गीत आपने याद कराया है वसंत जोगलेकर साहब ने इसको डायरेक्ट किया था रवि साहब ने संगीत से सजाया था हिंदी भाषी फिल्म जो 1963 में भारत में रिलीज हुई थी और इसमें कलाकार के रूप में अगर देखा जाए तो अशोक कुमार सुनील दत्त तनुजा और नंदा ने काम किया था इस फिल्म का ये गाना जो आप बता रही हैं उसे साहिर लुधियानवी साहब ने लिखा है आशा भोसले और मोहम्मद रफ़ी साहब ने गाया है रवि साहब का बहुत ही खूबसूरत म्यूज़िक है ज़िंदगी बड़ी कशमकश से बड़ी है लेकिन कर्म करो तो फल मिलता है आज नहीं तो कल मिलता है ज़िंदगी की ये जो बातें हैं जब हम लोग कर्म पर डिपेंड हो जाता है कर्म पर निर्भर हो जाते हैं तो कर्म हमें अच्छी तरह से करना होता है ऐसा भी कहा जाता है जितना गहरा अधिक हो हुआ उतना मीठा जल मिलता है जीवन के हर मुश्किल प्रश्न का जीवन से ही हल मिलता है तो आइए आगे बढ़ते हुए ये खूबसूरत गाना अभी आपके लिए कार्यक्रम की शुरुआत में आज और कल का खुश रहो खुशियाँ बांटो बहुत तो उदास हूँ मैं गम सही गम दुनिया मगर उदास न हो करीब है शब गम के शहर उदास न हो बहुत सही गम दुनिया हाथ की तलवार टूट जाएगी ये ऊंच नीच की दीवार टूट जाएगी तुझे कसम है मेरी हम सफर उदास न हो तुझे कसम है मेरी हम सफर उदास न हो बहुत सही गम दुनिया न जाने कब ये तरीका ये तरीका तो पास न हो करीब है शब गम के सहर उदास न हो बहुत सही गम दुनिया आप सुन रहे हैं रेडियो पुनीरी आवाज एक सौ सात दशमलव एफ एम खुश रहो खुशियाँ बांटो नमस्कार आप सुन रहे रेडियो पुनीरी आवाज़ एक सौ सात दशमलव आठ एफ पर खाबों का सफ़र विभा जी अगला गाना कौन सा है आपके पास अगला गाना है ये जब सनी को कंधा मिल जाता है तो प्यार हो ही जाता है हाँ। तो इस मुझे अगला गाना मैं लेके आई हूँ मुझे किसी से प्यार हो गया क्या बात है क्या बात है सदाबहार हिट जोड़ी के ऊपर फिल्माया गया गाना है नरगिस और राज कपूर सुनने वालों <laughs> के लिए मजबूर करता है और बहुत प्यारा आप थिरकने लगते इसको सुनते हुए ही जैसे कि रियली प्यार और एक मस्ती की भावना इसमें आती है इसमें नरगिस की एक्टिंग बहुत खूबसूरत है और लड़कपन और नज़ाकत के साथ खुशी चलक रही है उनके एक्टिंग और गाने में हम्म, हम्म, हम्म, जी हाँ आपने याद कराया बरसात इस एल्बम से जो 1949 में रिलीज हुई थी जलाल महिलाबादी ने इस गाने को लिखा था लता मंगेशकर ने गाया था शंकर जयकिशन साहब ने अपनी खूबसूरत संगीत दी है इस गाने को और ये जो है फिल्म बरसात 1949 में जो रिलीज हुई थी एक कहानी है एक लड़के की और यहाँ पर जो है छुट्टियों के दौरान जैसे हम लोग बचपन में गांव जाया करते थे वैसे ही गांव जाते हैं तो वहाँ पर फिर कुछ अलग चीज़ें हो जाती हैं और जैसे कि शहर से एक लड़का जब गांव चला जाता है तो गांव की लड़की से उसका प्यार हो जाता है और फिर वापस छुट्टियाँ ख़त्म हो जाती है परिवार के साथ लड़का वो अपने गांव छोड़कर शहर आ जाता है तो शहर में आने के बाद फिर उनकी जो तनहा है वो यहाँ पर शुरू हो जाती है तो चलिए कहानी को आगे हम लोग नहीं सुनाएंगे अब सीधे मैं आपको गाने की तरफ ले चलता हूँ आप सुनाए हैं रेडियो पुनेरी आवाज खुश रहो खुशियाँ बांटो नमस्कार आप सुन रहे रेडियो पुनेरी आवाज़ खाबों का सफ़र जी हाँ आशा करता हूँ आप सभी को बड़े प्यारे प्यारे गाने फिफ्टीज़ एंड सिक्सटीज़ के सुनने को मिल रहा है और विभा जी ने बहुत ही प्यारे प्यारे कलेक्शन अपने साथ लाई है और हम एक एक करके उन गानों का लुफ्त उठा रहे हैं और कहते हैं इंसान ने एक बार वक्त से पूछा मैं हार क्यों जाता हूँ वक्त ने बड़े प्यार से कहा धूप हो या छाव हो काली रात हो या बरसात हो मैं हर वक्त चलता रहता हूँ इसीलिए मैं जीत जाता हूँ तू भी मेरे साथ चल तू भी मेरे साथ चल कभी नहीं हारेगा वेरी नाइस nice. जी विभा जी अगला गाना कौन सा है हमारे श्रोताओं के लिए ये अगला गाना मैं लेके आई हूँ जब प्यार हो गया तो उसका इजहार भी जरूरी है और ये उसको पूछना भी जरूरी है और इसलिए इसमें मुझे कितना प्यार है तुमसे अपने ही दिल से पूछो तो इसमें शमी कपूर माला सिन्हा दो दीवाने दुनिया की भीड़ से दूर एक मस्ती में गा रहे हैं और एक दूसरे को अपने प्यार का इजहार कर रहे हैं और इसको सुनकर दिल में प्यार का एहसास होता है बोल हम्म, हम्म, बहुत हम्म। खूबसूरत है दिल लगन हो सच्ची फिर क्यों न रंग लाए मेरे थे तुम सदा पर अब करीब आए जी ये बहुत ही प्यारा सा गीत आपने याद कराया है दिल तेरा दीवाना ये 1962 का फिल्म है जिसमें ये गाना है और ये फिल्म जो है बी आर पंतुलू साहब ने खास करके निर्देश किया था डायरेक्शन दिया था उन्हें और इंदिरा राज आनंद साहब ने इसकी कहानी लिखी थी शंकर जयकिशन ने संगीत से संवारा था इस फिल्म को तो इस फिल्म का जो गाना आपने याद कराया है मुझे कितना प्यार है तुमसे शमी कपूर माला सिन्हा मोहम्मद अली महमूद अली प्राण पर पिक्चराइज किया गया ये खूबसूरत गाना दिल तेरा दीवाना इस एल्बम का अभी हमारे श्रोताओं के लिए खुश रहो खुशियाँ बांटो नमस्कार खाबों का सफ़र इस कार्यक्रम को आप सुनाए हैं और बहुत ही प्यारे गाने आप सुनाए हैं तो आशा करता हूँ आपको ये गाना जो अभी आपने सुना दिल तेरा दीवाना का बहुत ही पसंद आया होगा और इस फिल्म की कहानी तो एक मोहन नाम के लड़के की कहानी इसमें बताया गया है और उसके पिता बड़े ही अनुशासन प्रिय व्यक्ति हैं लेकिन फिर जैसे जैसे मोहन को ये सारी चीज़ें पसंद कुछ समय आती कुछ समय नहीं आती हैं तो फिर वो जुड़ा मुश्किल जो है उसके इस इन बातों को देखकर उनको कुछ मुश्किलें आती हैं क्योंकि अपने सभी दोस्तों को देखते हैं तो चीज़ें वहाँ पर अलग होती हैं और यहाँ पर घर में उसके लिए कुछ अलग माहौल बनता है तो आइए आगे बढ़ते हैं एक और खूबसूरत गीत की तरफ मैं आपको ले चलूंगा विवाह जी कैसे हैं आप मैं बहुत अच्छी हूँ और प्यार मोहब्बत वाले गाने मुझे और भी अच्छा कर रहे हैं <laughs> चलिए आप भी दीवानी बनती जा रही है मुझे लगता है गाने सुन सुनकर कर अब अगला गाना कौन सा है हमारे श्रोताओं के लिए इसमें प्यार मोहब्बत के साथ जहाँ प्यार मोहब्बत है वहाँ वफा और बेवफाई की भी बात होती है इसमें फुल वफा है जी, और इस गाने में शर्मिला टैगोर और जय मुखर्जी हैं हम्म, हम्म, हम्म। और इस गाने के बोल हैं मुझे मेरा प्यार दे दो तुझे आजमा लिया है तेरी वफा के आगे मैंने सर झुका लिया है इसमें दो प्रेमी पूरी मस्ती के साथ एक दूसरे को अपने प्यार का इजहार कर रहे हैं हम्म। और पाने और खोने की बात के साथ साथ घर को सजाने की बातें कर रहे हैं तो प्यार का पूरा खुमार है दोनों प्रेमी प्यार में डूबे हुए गाते जा रहे हैं ये हम साया 1968 में शायद आई थी उस फिल्म का गाना आपने याद कराया है जॉय मुखर्जी शर्मिला टैगोर माला सिन्हा सप्रू पर पिक्चराइज किया गया ये फिल्म था हम साया जो 1968 में रिलीज हुआ था तो इस फिल्म की कहानी जो है थोड़ी सी अलग बताया गया है एक मिलिट्री की कहानी इसमें है देश सेवा की जो सैन्य बल है उस पर आधारित ये फिल्म बताई गई है भारत और दूसरे चीन राज्य के बीच में जो छोटे मोटे युद्ध जो बताए गए हैं इस फिल्म के अंदर तो आइए इस फिल्म का एक गीत जो आपने अभी याद करा है जिसे खास शेवन रिजवी साहब ने लिखा है आशा भोसले मोहम्मद रफ़ी साहब ने गाया है ओ पी नैयर का खूबसूरत संगीत से सजा ये गाना अभी आपके लिए खुश रहो खुशियाँ बांटो मुझे कितना प्यार है तुमसे अपने ही दिल से पूछो तुम जिसे दिल दिया है वो तुम हो मेरी जिंदगी तुम्हारी है मुझे कितना प्यार है तुमसे अपने ही दिल से पूछो तुम जिसे दिल दिया है वो कितना प्यार है तुमसे अपने ही दिल से पूछो तुम जिसे दिल दिया है वो तुम हो मेरी जिंदगी तुम्हारी है पर अब करीब आए मुझे कितना मुझे कितना प्यार है तुमसे अपने ही दिल से पूछो तुम जिसे दिल दिया है वो तुम हो मेरी जिंदगी तुम्हारी है मुझे कितना प्यार है तुमसे अपने ही दिल से पूछो तुम जिसे दिल दिया है वो तुम हो मेरी जिंदगी सुन रहे हैं रेडियो पुनीरी आवाज एक सौ सात दशमलव आठ एफ एम खुश रहो खुशिया बांटो बहुत ही प्यारा सा गीत आप सुन रहे थे हम साया इस एल्बम से अब आगे बढ़ते हैं कहते हैं परिंदे रुक मत तुझ में जान बाकी है मंजिल दूर है बहुत उड़ान बाकी है आज या कल तेरी मुट्ठी में होगी दुनिया लक्ष्य पर अगर तेरा ध्यान बाकी है लक्ष्य पर अगर तेरा ध्यान बाकी है यूं ही नहीं मिलती किसी को रब की मेहरबानी एक से बढ़कर एक इम्तिहान बाकी है ज़िंदगी की जंग में है हौसला ज़रूरी जीतने के लिए सारा जहान बाकी है विभा जी अगला गाना कौन सा है आपके पास हमारे श्रोताओं के लिए एक एक और प्यार और मस्ती भरा गाना है और हम्म। इसमें महबूबा को महबूब से मिलने का जो एक खुशी मिल रही है उसका इजहार है मुझे मिल गया बहाना तेरी दीद का कैसी खुशी लेके आया चांद ईद का तो अच्छा। इसमें अच्छा। श्याम है और भारत भूषण पर फिल्माया गया है तो इसमें महबूब के चेहरे का दीदार हो जाना ही किसी ईद के चांद से कम नहीं होता जो खुशी जो प्यार और जो मस्ती है उसी का इजहार है इसमें अच्छा, और अच्छा। से ये एक और थरकने वाला गाना है इसमें खूब इसको सुनते ही जैसे पैर थरकने लगते हैं कि अब इंसान इंजॉय करता है इसको अच्छा, इसके अच्छा। बुक में जो मुझे बड़े पसंद है ऐसे कटी रात मेरी आंख में नाम नहीं नींद का मुझे मिल गया बहाना तेरी नींद का <laughs> जी भारत भूषण मधुबाला श्यामा और के एन सिंह पर पिक्चराइज किया गया ये फिल्म है जिसका नाम बरसात की रात है जो 1960 में रिलीज़ की गई थी और ये फिल्म में कहानी जो है बड़ा ही रोमांटिक कहानी है बरसात की रात में युवा युवती मिलते हैं अब बात बाद में ये हो जाता है कि सही पहचान युवती की करने से पहले ही वो चली जाती है तो फिर यहाँ पर कश्मकश हो जाता है कि वो कौन थी उसकी तलाश जो है जारी रहती है फिल्म में तो आइए इस फिल्म का आपने जो गीत याद कराया है आ, मुझे मिल गया बहाना तेरी दीद का साहिर रिदानी साहब ने लिखा है लता मंगेशकर जी ने गाया है रोशन साहब का संगीत से सजा ये गाना अभी आपके लिए खुश रहो खुशियाँ बांटो कर मैंने दिल के टुकड़े चुन कर नया दिल बना लिया है नया दिल बना लिया है मुझे मेरा प्यार दे दे मुझे मेरा प्यार दे दे तुझे आ घर सजा लिया है मुझे मेरा प्यार दे दे मुझे मेरा प्यार दे दे तुझे आ खुदा बना लिया है मुझे मेरा प्यार दे दे मुझे मेरा प्यार दे नमस्कार आप सुन रहे रेडियो पोनीरी आवाज एक सौ सात दशमलव आठ एफ पर खाबों का सफर कामयाबी के दरवाजे उन्हीं के लिए खुलते हैं जो उन्हें खटखटाने की ताकत रखते हैं तो आइए आगे बढ़ते हैं विवा जी अब अगला गाना कौन सा है आपके पास अगला गाना मेरे पास है मुझे प्यार की जिंदगी देने वाले कभी गम ना देना खुशी देने वाले इनोसेंट हाँ। सॉन्ग है जी जी जी और इसमें जैसे महबूबा को एक श्योरिटी चाहिए कि कहीं तुम मुझे छोड़ तो नहीं जाओगे उसके उसके लिए अपनी महबूबा से कह महबूब से कह रही है कहीं हम्म। तुम मुझे छोड़ तो ना दोगे इतना प्यार देने के बाद इतना अच्छा एटमोसफियर है गाने में बहुत एक चुलबुलापन भी है और एक सवाल है इसमें हम्म। तो इसमें जो बोल है जमाने में तुमसे नहीं कोई प्यारा ये जहाँ भी तुम्हारी ये दिल भी तुम्हारा ये महबूबा का जवाब है और उससे संतुष्ट महबूब उसको संतुष्ट कर रहा है भरोसा है हमको मोहब्बत पर तेरी ये डर है जमाना जुदा करना डाले हम्म। इस गाने को सुनने को बार बार मन चाहता है हम्म। बड़ा बट लिरिक बड़े सुंदर हैं और इसके भाव बड़े अच्छे हैं हम्म, एक एक प्रॉमिस मांग रही है महबूबा महबूब से बहुत ही प्यारा संगीत आपने याद कराया है ये जो गाना है प्यार का सागर जो 1961 में फिल्म आई थी और ये फिल्म जो है एक बहुत ही प्यारा सा फिल्म बनी थी यहाँ पर एक युवक की कहानी बताई गई है जब उनके माता पिता इस दुनिया से चल बसते हैं तो वो मुंबई आकर अपनी गुजारा करने की कोशिश करता है तो वहाँ पर जो सिचुएशन है मुंबई की वो बताई गई है इस फिल्म को देवेंद्र गोयल साहब ने लिखा है और फिल्म के जो संगीतकार है वो रवि साहब हैं और उनके जो कलाकार हैं राजेंद्र कुमार मीना कुमारी मदन पुरी लीला मिश्रा तो आइए आपने जो गाना याद किया है प्यार का सागर इस एल्बम का ये गाना जो है प्रेम धवन साहब का लिखा है आशा भोसले मोहम्मद रफ़ी साहब ने गाया है रवि साहब की खूबसूरत संगीत से सजा ये अगला गाना अभी हमारे श्रोताओं के लिए खुश रहो खुशियाँ बांटो मुझे प्यार की जिंदगी देने वाले मुझे प्यार की जिंदगी देने वाले कभी गम न देना खुशी देने वाले मुझे प्यार की जिंदगी देने वाले मोहब्बत के वागे बुला तो न दोगे कहीं मुझसे दामन छुरा तो न लोगे मोहब्बत के वागे बुला तो न दोगे कहीं मुझसे दामन छुड़ा तो न लोगे मेरे दिल की दुनिया है तेरे हवाले मुझे प्यार की जिंदगी देने वाले कभी गम न देना खुशी देने वाले मुझे प्यार की जिंदगी देने वाले जमाने तेरी भरोसा है हमको मोहब्बत पे तेरी तो फिर हंस के देखो निगाहों में मेरी ये डर है जमाना जुदा कर न डाले जिंदगी देने वाले मुझे प्यार की जिंदगी देने वाले उनके लिए सवेरे नहीं होते जो जिंदगी में कुछ भी पाने की उम्मीद छोड़ चुके हैं उनके लिए सवेरे नहीं होते जो ज़िंदगी में कुछ भी पाने की उम्मीद छोड़ चुके हैं उजाला तो उनका होता है जो बार बार हारने के बाद कुछ पाने की उम्मीद रखे हैं जिसके पास धैर्य है वो जो चाहे वो पा सकता है तो आइए आगे बढ़ते हैं बहुत ही खूबसूरत लाइनें लिखकर भेजा है हमारे दोस्त ने सलाम उनको और अब हबीबा जी कैसे हैं आप मैं ठीक हूँ और बताइए अगला कौन सा गाना है हमारे श्रोताओं के लिए आपके पास अगला गाना थोड़ा सा उदासी भरा इसलिए थोड़ी सी उदास भी हूँ पर मुझे ये गाना भी सुनना है जी जी दिल ये ख्याल है वो नजर से मुझको गिरा ना दे मेरे हम्म। जिंदगी का दिया कहीं ये गमों की आंधी बुझा ना दे बहुत उदास <laughs> गाना है वीरानों पे फिल्माया गया है पर ये भी जिंदगी का एक हिस्सा है ज्यादा चीनी भी हो जाए तो थोड़ा सा नमक खाने को मन करता है तो ये थोड़ी सी उदासी के साथ भी ये गाना दिल को भाता है हम्म, हम्म। अच्छा लगता है चलिए बहुत ही प्यारा सा जो भाव है आपने व्यक्त किया है और आशा करता हूँ हमारे सभी श्रोताओं को आज के हमारे गाने बहुत ही अच्छे अच्छे गाने आपने सुनाए हैं और जो गाना अभी आपने बताया 1961 में ये फिल्म आई थी उमर कैद ये आसपी ईरानी ने फिल्म को डायरेक्ट किया था मोहन छोटी हेलन शेख मुकत्तर का मुकद्दर जो है इस फिल्म के कलाकार रहे और इसमें एक कहानी ऐसा बताया गया एक व्यक्ति को जो है जेल में डाल दिया जाता है और काफ़ी समय तक वो जेल में रहता है और फिर भी बहुत कोशिश के बाद जब वो बाहर आता है तो वो फाइनली अपने आप को बेकसूर साबित कर ही देता है तो इस तरह की ये कहानी बताई गई है उमर कैद इस नाम से ही पता चल जाता है किसी एक कैदी की कहानी है तो आइए आगे बढ़ते हुए इस फिल्म का ये गाना अभी आपके लिए आप सुना है रेडियो पुनेरी आवाज खुश रहो खुशियाँ बांटो या कहीं ये गमों की आधी बुझा न दे मुझे रात दिन ये ख्याल है मेरे दिल के दा अपना बता मैं दिया रात दिन ये ख्याल है आप सुन रहे हैं रेडियो पुनीरी आवाज एक सौ सात दशमलव आठ एफ खुश रहो खुशियाँ बांटो नमस्कार आप सुन रहे रेडियो पुनेरी आवाज एक सौ सात दशमलव आठ एफ पर खाबों के सफर में आगे बढ़ते बढ़ते अब आखिरी गाने की तरफ हम लोग जा रहे हैं और जो गाना उमर कैद फिल्म का आपने सुना जिसे हसरत जयपुरी साहब ने लिखा था मुकेश साहब ने गाया था इकबाल कुरैशी का संगीत से सजा गीत था उमर कैद का तो अब आइए आगे बढ़ते हैं एक और गीत की तरफ हम लोग चलते हैं और विभा जी अगला गाना आप आते शायद होगा कौन सा गाना है अभी आपके पास जी ये आखिरी गाना मेरे पास है इससे पहले आप बताएं आप कैसे हैं आप कैसे इंजॉय कर रहे हैं इस गाना को बहुत बहुत अच्छा लग रहा है और बहुत ही प्यारे प्यारे जो फिफ्टीज सिक्सटीज़ के ओल्ड मेलोडीज़ हैं कहीं ना कहीं ये दिल के अंदर हमारे जो है बस जाते हैं शब्द इनके बहुत ही मीठे हैं पहली लाइन जैसे कि गाने के हमें याद हो जाता है दो तीन गाने जो है मेरे दिल के करीब हैं जिन्हें आपने सुनाया है जैसे मुझे प्यार की ज़िंदगी देने वाले इसके साथ ही आपने एक गाना और सुनाया था मुझे कितना प्यार है तुमसे अपने ही दिल से पूछो तुम ये जो गाने आपने सुनाए हैं ये हकीकत में कहीं ना कहीं एक बार भी व्यक्ति सुन लेता है तो इसकी पहली वर्डिंग तो याद हो ही जाती है और बार बार सुनने का मन करता है और एक गाना जो आपने सुनाया था दूसरा गाना शायद आपने सुनाया था मुझे किसी से प्यार हो इसमें जो मजे की बात है ये इसके जो लिरिक है ये हम्म। याद रहने वाले लिरिक्स हैं हम्म, हम्म, इसको जब भी म्यूजिक जैसे शुरू होता है एकदम से हम गुनगुनाने लगते हैं हमारे पैर थरथराने लगते हैं इवन ये गाने इसमें कोई सैड सॉन्ग भी है तो तब भी उसमें एक एक भाव छुपे हुए हैं और हम्म, उसमें हम्म, एक, एक हम्म। कुछ ना कुछ दिल को कहीं ना कहीं जाके छूते हैं ये गाने जी जी जी जी और अगला गाना ये खुशी भरा है ये मुझे तुम मिल गए हमदम सहारा हो तो ऐसा हो जिधर देखूं उधर तुम हो नजारा हो तो ऐसा हो ये आशा पारेख बेहद खूबसूरत खूबसूरती से एक्टिंग करते हुए अपने महबूब जय मुखर्जी को अपने प्यार का यकीन दिला रही हैं इसमें और जय मुखर्जी इसमें पियानो बजा रहे हैं और वो डांस कर रही हैं और जिससे इस गीत में चार चांद लग रहे हैं क्या बात किसी क्या बात है चेहरा नजर से चूम लेती हूँ खुशी की इंतहा ये है नशे में झूम लेती हूँ ब्यूटिफुल लिरिक्स थैंक यू <laughs> जी ये बहुत ही खूबसूरत फिल्म जो है लव इन टोक्यो 1966 का एल्बम था जिसे आपने याद कराया जॉय मुखार्जी आशा पारेख ललिता पवार महमूद अली पर पिक्चराइज किया गया था और इसमें एक प्रेम कहानी बताई गई है अशोक और आशा की दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं लेकिन आशा की माँ नहीं चाहती है कि ये प्यार सच्चा हो जाए या शादी हो जाए इनकी और इस कश्मकश में अशोक जो है किसी एक दुर्घटना का शिकार हो जाता है और उसकी आंखें चली जाती हैं तब फिर पूरे हालात बदल जाते हैं लेकिन आखिरी में फिर उसकी आंखें वापस आ जाती हैं तो कहानी में हैप्पी एंडिंग दिखाई गई है तो बहुत ही प्यारा सा गीत आपने याद कराया है तो हर एक चीज़ में खूबसूरती होती है लेकिन हर कोई उसे देखता नहीं <laughs> इसलिए कहा जाता है कि तिरछी नज़र भी हो लेकिन उसमें प्यार भी हो और विशालता भी हो ताकि हर वो चीज़ अच्छी आपको जल्दी से दिखाई दे और उसकी जो नेगेटिव पहलू है वो दिखाई कभी ना दे आपको इसलिए बड़ा सोचो दिल से सोचो आगे सोचो विचार पर किसी का अधिकार नहीं बस आपका अपना अधिकार है तो चलिए साथियों आज के इस शो में हमें बहुत अच्छा लगा बहुत ही प्यारे गाने जो है विभाजी ने सुनाई है टू तो Vibha ji thank you so much हमारे साथ इस एपिसोड में जुड़ने के लिए ढेर सारी खुशियाँ और ये चंद तालियां आपके नाम तो चलिए साथियों आज के इस एपिसोड का ये आखिरी गाना हसरत जयपुरी साहब का लिखा लता मंगेशकर का गाया शंकर जयकिशन का संगीत बद लव इन टोक्यो आप सबके लिए खुश रहो खुशियाँ बांटो